कथम तद विजानिया किम भाति विभाति वा ज्ञानी लोग तो उसको तदेतत मनते प्रत्यक्ष ही है तो किस प्रकार मैं इसको जानूं किम भाति विभाति वा ये हमको भान होता है या नहीं होता है इसका उत्तर रूप से आगे है अत्र उत्तरमिदम भाति च विभाति च इति भाति च विशेष रूप में भान भी होता है कथम न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तत्र सूर्यो न भाति तत्र तस्मिन् आत्मतत्वे सूर्यो न भाति सूर्य प्रकाशता नहीं प्रकाश नहीं करता है अर्थात उसे आत्मा को सूर्य प्रकाश नहीं कर पाता है सर्व प्रकाशक होने पर भी आत्मा का प्रकाश करनी न चंद्र तारकम चंद्र तारक का भी प्रकाश नहीं कर पाते हैं नेमा विद्युत भांति न इमा विद्युत ये जो विद्युत है यहाँ दिखते हैं वो भी प्रकाश नहीं कर सकते कुतो ये अग्नि और ये सामान्य अग्नि हमारे सामने दिखता है दिखती है ये क्या प्रकाश करेगी तमेव भांतम अनुभाति सर्वम अनुभान अनुभाति तम भांतम अनु वो प्रकाशमान है और प्रकाशमान के पीछे प्रकाशमान उनसे से सर्वम अनुभाति सब उससे से प्रकाशित तो होते हैं प्रकाश करते हैं उसके प्रकाश से सब प्रकाश होकर के प्रकाश करते हैं तस्य भाषा इदम सर्वमिदम विभाति उसके प्रकाश ही सब प्रकाशमान है एक ही आत्मतत्व सर्व प्रकाशक उसके प्रकाश से सब प्रकाशित तो होते हैं उससे प्रकाश से युक्त होकर के अन्य कोई किसको प्रकाश करता है वास्तव प्रकाश तो स्वयं प्रकाश आत्मा है कि ही है सूर्य चंद्र आदि को भी प्रकाश करने वाले एक ही प्रकाश उसके प्रकाश से प्रकाशित तो। जिस प्रकार सदरूप ब्रह्म है उसकी सत्ता से आरे आगे अध्यस्त पदार्थ की सत्ता है अध्यस्त पदार्थों की अलग सत्ता है ही नहीं दिखते हैं सब है ही नहीं सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से सब सत्ता वाले दिखते हैं इस प्रकार स्वयं प्रकाश प्रकाश पर ब्रह्म है उसके प्रकाश से सारे प्रकाश वाले सारे प्रकाश युक्त दिखते सूर्य चंद्र आदि वही प्रकाश एक स्वयं दृग रूप चेतन सर्व प्रकाशक बाकी सब प्रकाश्य है दृग भाष्यत्वम दृग चेतन के द्वारा प्रकाशित सब है दृग भाष्यत्वम सारे पदार्थ अनात्म पदार्थ में है चंद्र सूर्य आदि में भी है दृग रूप चेतन सर्व प्रकाशक है उसको सूर्य चंद्र आदि कोई प्रकाश नहीं करते हैं उसके प्रकाश से सारे सब विविध रूप से भान होते हैं न तत्र तत्र का था तस्मिन उसी में जो पहले कहा था स्वात्म भूते ब्रह्मणि ब्रह्म आत्मा से अभिन्न है स्वात्मभूत अपने आत्मा से अभिन्न ब्रह्म उसमें न सूर्य भाति सर्वाभास कोपि सूर्य न भाति हे सूर्य सब का प्रकाशक है फिर भी उसको प्रकाश नहीं कर पाएगा सर्वाभास कोपि सूर्य न भाति न भाति का कर्म है तद ब्रह्म न कर्म है तद ब्रह्म ब्रह्म को न भाति का तो न प्रकाशयति तीर्थ यानी कि वहाँ सूर्य उदय नहीं होता सूर्य दिखता नहीं अर्थ नहीं उसको सूर्य प्रकाश नहीं करता है तस्मिन विषय सूर्य न भाति उसको प्रकाश नहीं कर सकता है न प्रकाश यदि सूर्य ब्रह्म ब्रह्म को तथा न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतम अस्मद गोचर अग्नि अयम कन कुतोयम अग्नि इदं तो अग्नि को दिखाते अस्मद गोचर हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखता है पास में अग्नि प्रज्वलन करे भोजन आदि बनाते ही अग्नि क्या प्रकाश करेगी किम बहुना यदिदम आदित्यादिकम सर्वम भाति तत् तमेव परमेश्वरम भांतम दीप्यमान दीप्यमानम अनु भाति अनुदीप्यते यदिदम आदित्यादिकम सर्वम भाति आदित्यादि सब प्रकाश करते सारे वस्तु का प्रकाशमान है सबको प्रकाश करते तत् यह जो होता है तम भांतम अनुभाति सर्वम तम परमेश्वरम भांतम परमात्मा प्रकाशमान होने से भांतम का अर्थ दीप्यमानम तो प्रकाशमान होने से उसके पीछे उसके प्रकाश से सब अनुभांति अनुदीप्यते सब प्रकाशित होते हैं उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते उसके प्रकाश होने से उसके बाद सब प्रकाशित है अर्थात अन्यतर जो प्रकाश है वो उसी का ही प्रकाश है उसमें दृष्टांत देते हैं यथा जलोलमकाद अग्नि संयुगाद अग्निम दहंतम अनुदहति न स्वत स्वतः तद्वत जल गर्म करने से बहुत गर्म करे तो जल दहती दाह कर देगा उल्म कहे उल का लकड़ी जलाया लकड़ी दाह नहीं करती अग्नि जो संयोग होने से अग्रभाग में अग्नि है जला देगी जल उल्म का आदि अग्नि संयोगाद अग्नि के संयोग होने से ही केवल जल दाह नहीं करेगा अग्नि संबंध से अग्नि उसमें प्रविष्ट हो जाती है अग्नि संयोग से अग्नि दहनतम अनुदहते अग्नि दहन करने वाले तो अग्नि अग्नि दहन करने से जल भी दहन कर देता है उल्म का भी दहन कर देता है ऐसे कहा जाता है अग्नि दहन अग्नि दहनतम अनु अग्नि दहन करने वाले उसके पीछे ये दहन करते जल हो उल्म का आदि तैल आदि न स्वतः स्वतः जल नहीं दहन करेगा जल तो शीत स्पर्श त्याप शीत स्पर्श वाला है गर्म करके छोड़ दे तो ठंडा हो जाता है स्वभाव शीत स्पर्श है स्वतः दाह नहीं करता है पर काष्ठ अग्नि संयोग करने से दाह करेगा नहीं तो कुछ काष्ठ दाह नहीं करता है उसी प्रकार ये सूर्य चंद्र आदि जितने उसके प्रकाश से प्रकाशित तो होते हैं सबको प्रकाश करते हैं स्वतः प्रकाश करने का सामर्थ्य किसी में नहीं एक दृघ रूप चेतन है स्वयं प्रकाश बाकी जितने सब पर प्रकाश्य दृग रूप चेतन से प्रकाशित तो होते भाष्य प्रकाश्य होते तस्व भाषा सर्वमिदम विभाति भाषा भाष शब्द का तृतीयांत भाषा प्रकाशे उसके प्रकाश ही सब कुछ विविध रूप से भान होते हैं तस्व भाषा भाषा का तो दीप्त्या दीप्ति प्रकाशे सर्वमिदम विभाति इदम सर्वम सर्वम कौन सूर्य आदि सूर्य चंद्र तारका अग्नि सब विभादि विशेष रूप से भान होते हैं यतेवम तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च इसलिए हुई ब्रह्म भान प्रकाश रूप है और विविध रूपेण प्रकाश करता है सूर्य चंद्र रूप से विभाति विविधन भाति कैसे कार्यगतन विविधन भाषा तस्य ब्रह्मण भारूपतम सत्व अवगम्यते विविधेन विविधेन भाति विविधेन प्रकाशन सूर्यादि कार्य है एक अद्वितीय ब्रह्म है सदैव समेदम ग्रासित एकमेव द्वितीयम स्वगत सजाते विजाते भेद रहित ब्रह्म अद्वितीय अद्वितीय का अर्थ नहीं कि परमात्मा एक है बाकी जीव जड़ अलग है यह अर्थ नहीं स्वगत सजाते विजाते भेद रहित एकम एव अद्वितीयम स्वगत वेद होता है सावय पदार्थ में वृक्ष से स्वगत वेद पत्र पुष्प फलादि और वृक्षांतरात सजातियो विजातीय शिलादित ब्रह्म का स्वगत वेद होगा सावय हो तो निरवय वे स्वगत वेद नहीं सजातीय भेद होगा दूसरे कोई आत्मा हो ब्रह्म हो सजातीय भेद भी नहीं है विजातीय भेद होगा ब्रह्म से भिन्न जड़ पदार्थ अनात्मा कोई हो अनात्म पदार्थ वास्तव है ही नहीं वेद कैसे होगा स्वगत सुजाते विजाते भेद रहित ब्रह्म कौन से ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं जिसको श्रुति कहते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अनंतम का अविद्यमान अंतु अंतुयस्य अंत का परिच्छेद परिच्छेद देश काल वस्तु परिच्छेद तीन प्रकार होता है ब्रह्म देश परिचय नहीं नहीं है काल परिचय नहीं वस्तु परिचय भी नहीं है देश परिचिन वस्तु एक स्थान में है एक स्थान में नहीं है अत्यंत अभाव का प्रतीक होता है घट आदि काल परिचिन एक काल में है अन्य काल में नहीं रहेगा उत्पत्ति के पहले नहीं घट नाश होने के बाद नहीं रहता है घट वो काल परिचिन है ब्रह्म काल परिचिन नहीं किंतु क्योंकि तीनों काल में है देश परिचिन नहीं क्योंकि सर्वव्यापक है और एक होता वस्तु परिचिन घट पट नहीं पट घट नहीं घटत यहाँ है पट देश में नहीं है एक वस्तु अन्य वस्तु से भिन्न है होता है वस्तु परिचिन्न वस्तु परिचिन होता है जो भेद उससे जिससे कोई भेद भिन्न कोई पदार्थ हो वो वस्तु परिचिन्न होगा अन्य भाव का प्रति होता है वस्तु परिचिन्न ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ हो तो वस्तु परिचिन्न हो जाएगा ब्रह्म अनंतम ब्रह्म कौन से अंत है ही नहीं परिच्छेद है ही नहीं देश काल वस्तु कृत परिच्छेद है ही नहीं इससे सिद्ध होता है परिच्छेद नहीं क्या था वस्तु परिच्छेद भी नहीं है वस्तु परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं इसका अर्थ ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है यदि ब्रह्म से बिना कुछ भी मान ले तो ब्रह्म वस्तु परिचिन्न हो जाएगा वस्तु परिच्छिन्न होगा तो उसमें परिच्छेद कर रह गया अंतर रह गया जिसमें अंत परिच्छेद रहेगा उसको अनंत नहीं कहा जाएगा एक पुत्र हो तो क्या उसको सब सपुत्र कहेंगे एक पुत्र हो तो पांच पुत्र नहीं एक पुत्र है तो सपुत्र है जिसके पांच पुत्र है वो सपुत्र है या अपुत्र है किंतु जिसका एक पुत्र है वह सपुत्र हाँ। एक अंत यदि रह जाएगा ब्रह्म में उसको अनंत कहा जाएगा जिसमें एक रूप है उसको निरूप कहते हैं क्या निरूप यदि एक रूपन से निरूपक कहते तो सारे ब्रह्मांड सब निरूप हो जाएंगे जिसमें रूप है वो रूप को छोड़कर अन्य रूप है ये पुष्प में रूप है ये रूप इसमें इस रूप का अभाव है ये केवल इसके रूप नहीं इस पुष्प रूप छोड़ जाते ने जितने रूप सब का अभाव है तो इसको निरूप कहा जाएगा एक रूप रहा तो निरूप नहीं है इसी प्रकार यदि एक अंत ब्रह्म में रह जाएगा परिच्छेद वस्तु परिच्छेद तो ब्रह्म को अनंत नहीं कह सकते हैं श्रुति कहते अनंत ब्रह्म अनंत का अर्थ एक भी परिच्छेद नहीं एक परिच्छेद रहेगा तो अनंत कैसे होगा तीन प्रकार अंतर से एक यदि रह गया तो अनंत नहीं होगा न्यायिक लोग मानते हैं ब्रह्म सर्वदेश में है सर्वकाल में नित्य मानते हैं किंतु ब्रह्म से भिन्न मानते बहुत पदार्थ उनके अभिप्राय से ब्रह्म वस्तु परिचिन्न है वस्तु परिचिन को श्रुति अनंत नहीं कहेगी कोई कह दे अप्रामाणिक व्यक्ति तो अलग बात है श्रुति कहते अनंत ब्रह्म का तो परिचिन है है ही नहीं देश परिचिन्न नहीं सर्वव्यापक है काल परिचिन्न नहीं नित्य है और वस्तु परिचिन्न नहीं इसलिए ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं होने से ही सिद्ध होता है सर्वम कलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ब्रह्म से बिना कुछ नहीं तो जितने पदार्थ है ब्रह्म का सो कार्य है कार्य भी वास्तव ब्रह्म कारण नहीं नहीं है वास्तव तो माया से कारण कहते हैं माया विशिष्ट को कारण तो कार्यगत जितने ते है कार्यगत न विविध न भाषा कार्य में जितने प्रकाश है तस्य ब्रह्मण भारूपत्वम सत्व अवगम्यते कार्य में प्रकाश है तो कारण भी प्रकाश रूप होना चाहिए सूर्यादि में जो प्रकाश है कार्यगत प्रकाश से ब्रह्म प्रकाश रूप स्वतः होता है इसे अवगम्यते ज्ञायते निश्चय होता है नहीं स्वत अविद्यमान भाषणम अन्य से कर्तुम सक्यम जिसका स्वयं प्रकाश है ही नहीं दीप जलाने पर दीप में प्रकाश है दूसरे को प्रकाश कर सकता है एक बड़ा घड़ा ला कर रखे तो दूसरे को प्रकाश कर देगा नहीं घड़ा छोटे दीप प्रकाश कर लेता है बड़े घड़ा को लाकर रखो कमरा में दीप को फेंक दो घड़ा प्रकाश करेगा ना नहीं क्यों नहीं करता है क्योंकि घट स्वयं प्रकाशमान नहीं दूसरे को क्या प्रकाश करेगा वो घट को देखने के दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है दीप को देखने के दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है जो दीप प्रकाश रूप होने से अन्य को प्रकाश करता है और घड़ा प्रकाश रूप नहीं होकर के भी अन्य को प्रकाश करता है क्योंकि स्वयं प्रकाश रूप है ही नहीं जो स्वयं प्रकाश रूप नहीं होगा वो अन्य को प्रकाश करेगा अपने को तो कर देगा ना अपने को करेगा ना दूसरे को करेगा घड़ा नहीं करता है इसलिए अन्य को प्रकाश करने वाला कोई जो प्रकाश रूप स्वयं नहीं होगा तो अन्य को प्रकाश नहीं कर सकता है सूर्य चंद्र आदि में जो प्रकाश है उनको जो प्रकाश करने वाला है वो स्वयं प्रकाशमान है नहीं सत्व अविद्यमान भाषणम अन्य से कर्तुम सक्यम अपना यदि प्रकाश नहीं तो दूसरे का क्या प्रकाश करेगा जिसके पास कोई धन नहीं है दूसरे को धनी बना देगा दूसरे को धन देगा धन कहाँ से देगा अपने पास ही नहीं घटादि नाम अन्य अन्याभाषकत्व आदर्शनाथ घटपट आदि अन्य का प्रकाशक होते हैं नहीं नहीं होते अन्य अभाषकत्व अन्येषाम अभाषकत्वस्य अदर्शनाद घटादो घटादि में अन्य अभाषकत्व तो दिखता है नहीं अन्य अभाषकत्व तो दिखता है अन्य अभाषकत्व से अदर्शनात् कस्य घटादिनाम घटादि अन्य को प्रकाश नहीं करते हैं भाषण रूपाणा रूपाणाम च आदित्य आदि नाम दर्शनात् आदित्य प्रकाश रूपे दूसरे को प्रकाश कर सकता है करता ही है क्योंकि प्रकाश रूप है प्रकाश रूप होने के कारण दूसरे को प्रकाश करता है घट स्वयं प्रकाश रूप नहीं होने से दूसरे को प्रकाश नहीं करता है तो सूर्य चंद्र आदि को प्रकाश करने वाला स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म है इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ काठक उपनिषद भाष्य द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली भाष्यम समाप्तम तृतीय वल्ली है टीका में शालमल्यादि मूल दर्शनेन तुर शालमल्यादि तूल दर्शनेन अदृष्टमपि मूलम यथा अस्तीति अवधार्यते तद्वत अदृष्टस्यापि ब्रह्मण अवधारणाय प्रक्रमते त्याह शालमली सेमल कहते सेमली वृक्ष है उसके रुई तुला होता है बहुत मुलायम हल्का है पेड़ में फल रहता है सूख जाता है फट जाता है तो तोल निकल करके हवा से उड़कर इधर-उधर गिरता है सालमल आदि के तूल दर्शन न तूल रुई आकर गिरते देखते ने देखने पर वृक्ष नहीं देखा रुई आकर गिरने पर आपको निश्चय होगा पास में कोई वृक्ष है करके बताए है हो कोई पेड़ के पत्ते आकर गिरते हैं हवा के समय कुछ पेड़ के पत्ते आकर गिरा पेड़ नहीं देखा निश्चय होता है पेड़ कहीं है आसपास में पत्ते को देखकर निश्चय कर दे वृक्ष है नीम वृक्ष कहाँ मिलेगा वो देख आ गिरा तो हो समझे यहाँ कहीं नीम है कोई पत्ता अगर गिरा तो पत्ते को देखकर जानते ये वृक्ष यहाँ पर है पास में है सालमूल आदि तुल दर्शनन वृक्ष मूलम यथा अस्ति ते अवधार्यते मूलम अस्ति ऐसा निश्चय होता कहीं वृक्ष है तुला है उड़ा तो वृक्ष है उसका मूल कारण है कार्य को देखकर कारण अनुमान होता है तद्वत अदृष्ट भी ब्रह्मण अवधारणाय प्रक्रमते ब्रह्म तो अदृश्य दिखता नहीं है किंतु नहीं दिखने पर नहीं है ऐसे नहीं कह सकते हैं बहुत पदार्थ है नहीं दिखने पर ही मानते हैं दिखना किस इंद्र के द्वारा ग्रहण नहीं होता है तो भी पदार्थ मानते हैं मानते हैं क्या मानते हैं आकाश नहीं दिखता है हैं व्याघ्र वायु हाँ नहीं दिखता है तो एक तो दिखने का आंख से नहीं दिखेगा मधुर रस दिखता है नहीं शब्द दिखता है नहीं नहीं दिखता है तो अन्य इंद्र से उसका ग्रहण होता है मधुर से का ग्रहण रसन इंद्र से होता है शब्द का श्रवण इंद्र से दिखता नहीं उत्तर किस इंद्र का जो विषय नहीं है सुख दुख किस इंद्र का विषय है नायक लोग कहेंगे मन का विषय है और भूत पिशाच देखा है आपने डर लगता है कभी नहीं लगता है किस किस को नहीं डरता है कहते लेकिन नहीं डरते समय आने पर ज्यादा डरते समय आने पर बहुत डरेंगे स्मशान में जाकर के कोई अभ्यास करते तो नहीं तो जाकर वहां बैठे रात में रात भर रात भर बैठे कोई गिदड़ आएगा तो डरेंगे भूत आ गया पशु आने पर भी बहुत तो ये पशु बिना कारण भी डरते हैं रास्ता में कोई जाते हैं बड़े जोर से आवाज हुआ बड़े डोर से जाकर बुखार हो गया दूसरे दिन देखे आम के पेड़ में से शाखा गिर गई थी <laughs> पेड़ में से शाखा गिर गई जोर से आवाज हुआ ये क्या समझा भूत है <laughs> जाकर बुखार हो गया बाद में देखा कुछ नहीं सूखे लकड़ी पे पेड़ में थी शाखा गिर गई नहीं दिखने पर भी कुछ अणुपरमाणु यहाँ दिखता नहीं है इसके बीच में कोई धूलिकण दिखती है किंतु हे अभी सूर्य किरण आएगा तो दिखेगा और कुछ भी यंत्र के द्वारा दिखता है जल जो पीते हैं जो कुछ पदार्थ में कीड़े कहीं कहीं छोटे-छोटे होते दिखता नहीं आंख से किंतु यंत्र से दिखते हैं ऐसे बहुत पदार्थ हैं नहीं दिखने पर भी सुख दुख कारण पुण्य पाप धर्म धर्म दिखता नहीं तो बहुत पदार्थ से मानते सामान्य स्थूल रूप से कीट अणु धूलिकण है किंतु दिखता नहीं किरणान पर दिखते स्पष्ट होता है ना दिखते हाथ से ना हाथ से लगाने पर अनुभव नहीं होता है सूर्य किरण आ जाएगा तो गया सुकाने छोटे-छोटे स्थूल सामान्य रूप से नहीं दिखता है किंतु है इसलिए ब्रह्म नहीं दिखने पर भी उसका अस्तित्व का निश्चय करने के लिए अदृष्ट से विभ्रमण अवधारणाएं प्रक्रम श्रुति आरंभ करती है भाष्य में तुला अवधारणे व मूलावधारण वृक्ष से क्रियते लोके यथेवम संसार कार्य वृक्षा अवधारणेन तलमूल से भ्रमण सर्पावधि धारयसेयम षष्ठी वल्य आरभ्यते भगवान भाष्यकार कहते तूला अवधारणेन एव तूला के अवधारण निश्चय से ही मूल से अवधानम वृक्ष से क्रियते लोके यथा मूल से वृक्ष से मूल अवधानम वृक्ष मूल है तुला कार्य को देख करके वृक्ष का अवधारण कारण का निश्चय होता है मूल का निश्चय होता है वृक्ष है लोके यथा यथा जिस प्रकार करते तुल कार्य को देख करके मूल अवधारण करते वृक्ष का वृक्ष से अवधारण वृक्ष है करके निश्चय होता है एवं संसार कार्य वृक्षा अवधानेन संसार रूप कार्य है वृक्ष संसार भी कार्य है ये वृक्ष के समान है संसार वृक्ष उसका न संसार वृक्ष का निश्चय हो जाने पर तो उसका तन मूल से वृक्ष है तो उसका मूल होगा कार्य है तो उसका कारण होगा संसार कार्य है तो उसका कोई कारण होगा तन मूल से ब्राह्मण वो मूल है मूल होगा जो कारण कार्य से विलक्षण हो कार्य का मूल क्या है वो कार्य का अवयव कहीं मूल कार्य का अवयव उसका कारण होता है किंतु वो भी कार्य उसका कारण कोई चाहिए कार्य को देकर कारण निश्चय करते उपादान कारण तो उसका अवयव होता है तो मूल होता है सबसे मूल जो किसका कार्य नहीं हो ऐसे सब का कारण है ब्रह्मण स्वरूप सया अवधिधारयिषया तुम इच्छया अवधान करने की इच्छा से निश्चय करने के लिए षष्ठी वल्ली आरभ्य थे षष्ठी वल्ली का आरंभ कर आरंभ वल्ली का आरंभ किया जाता है ऊर्धमूलो वक्षाख एषो सत्थ सनातन तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः सितः सर्वे तदो नात्यति कश्चन एतद्वै यमराज उपदेश करते हैं नचिकेता को भूलना नहीं सामने यमराज खड़े हैं नचिकेता शिष्य को उपदेश करते हैं एकाग्र होकर सुनो नहीं तो ध्यान रखो तो यमराज खड़े हैं <laughs> यमराज खड़े आप भूल जाएंगे तो कोई छोड़ देंगे क्या यमदूत तो ये ध्यान रखना अभी कठोपनिषद पढ़ते समय आचार्य यमराज नचिकेता को उपदेश करते हैं दोनों सामने है गुरु शिष्य उससे थोड़ा उनके वाक्य सुनते यमराज उपदेश करते कहते तद वे तत् यही है तो ही जुमने जो तुमने पूछा था आत्म तत्व जो एयम प्रेत चिकित्सा मरने के बाद है अथवा नहीं फिर बीच में पूछा था अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात धर्म अधर्म कारण से विलक्षण वो जो जानते हो तद्वद यही ब्रह्म तत्व है ये संसार का कारण ऊर्ध्वमूल अभाव शाख ए स्वस्वत सनातन ये जो संसार के वृक्ष है अश्वत्थ नामक वृक्ष है ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूलम यस्य इसका मूल संसार वृक्ष का मूल ऊर्ध्वम ऊर्ध्वय पर ब्रह्म है इसका मूल कारण अभाग शाख शाखा उसके सब नीचे है अभाग शाख एश्व अश्वत्थ अश्वत्थ है कोई कोई अस्वस्थ कर देते हैं श्वस्नै स्वत्थ स्वः थाता इति नियम नास्ति स्वत्थ अश्वत्थ ये अनित्य है ये संसार अश्वत्थ नाम का संसार वृक्ष है अश्वत्थ है काल को रहेगा निश्चय नहीं किंतु सनातन है ये संसार काल को रहेगा निश्चय नहीं किंतु सनातन है अनादि काल से चल रहा है नित्य ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होगा काल को नहीं रहेगा तो दूसरा बन जाएगा प्रतिक्षण परिवर्तन होता है संसार उत्पत्ति नाश वाला है तो लगातार उत्पत्ति नाश चलता रहता है तो व्यक्ति के नाश होने पर भी संसार का अभाव नहीं होता है दूसरे संसार ऐसे उत्पत्ति नाश वाला संसार अनादिकाल से चल रहा है इसलिए सनातन और उसका उच्छेद होता है इसे उसको वृक्ष कहते हैं किंतु उच्छेद होगा केवल ज्ञान उसके बिना नहीं होता है इसलिए सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म वही जो मूल है संसार का वही शुक्र शुद्ध है वही ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते हुई अमृत है अमरण धर्म वाला बाकी सब विनाशी मिथ्या है तस्मिन सर्वे लोकाश्रिता उसमें सारे लोग उस सब आश्रित है सब कुछ पदार्थ उसमें अध्यस्त है तस्मिन सर्वलोकाश्रिता जैसे मरुह में जल दिखता है सारे ब्रह्मांड उसमें अध्यस्त है तदुनात्यति कश्चन उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर पाता है अतिक्रमण करके नहीं अधिष्ठान से भिन्न कुछ नहीं है अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान को अतिक्रमण करके अधिष्ठान से अतिरिक्त है ही नहीं अधिष्ठान में सब आश्रित है जो सब का अधिष्ठान है वही संसार का मूल है वही ब्रह्म है शुद्ध है वही तुमने पूछा था ब्रह्म यह यह है तो यह संसार रूप कार्य को देख करके उसका कारण का अनुमान होता है तार्किक लोग भी अनुमान करते क्षित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यवाद घटवत कार्य है तो उसका कारण होगा बिना कारण नहीं हो सकता है तो कार्य को देखकर कारण अनुमान करते संसार कार्य है उसे अनुमान करते कारण है जितने सावय पदार्थ है सब कार्य है उत्पत्ति वाला है कोई मकान जंगल में देखा बड़े मकान है जाकर देखा तो कोई कहता है किसने बनाया आपको पता है किसने बनाया तो क्या मकान का आप कार्य मानोगे या नित्य मानोगे कोई यदि कहे ना ये कार्य नहीं है तो किसने नहीं बनाया जंगल में वो तो ऐसा ही है अनादि है मान लोगे ना अनादि कार्य है तो उसकी उत्पत्ति अवश्य हुई हमको पता नहीं किसने बनाया ये जरूर किसने बनाया देखा टूटा फूटा मकान थोड़ा सा है उसको भी किसने बनाया अपने आप हो गया छोटा सा टूटा फूटा हो तो भी किसने बनाया अपने आप हो गया तो कोई नहीं मानेगा साधारण लोग भी कोई यदि कहे नहीं किसने बनाया यहाँ कौन बनाएगा वो तो ऐसे ही अनादिकाल से ही मान ले कोई साधारण लोग भी गाय चराने वाले वो भी जाते कहते अरे यहाँ किसने बनाया किसने बनाया करके अपने आप नहीं मानते हैं कार्य है तो उसका कारण है ये संसार कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है तो तार्किक लोग भी ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान करते हैं ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूलम यस्य स यत्तद विष्णु परम पदम ऊर्ध्व कौन है विष्णु का जो परम पदम वही ऊर्ध्व है परब्रह्म है परम पदम का अर्थ पद्यति गम्यति पदम स्वरूप है स्वयं अव्यक्तादि स्थावरांत संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूल कौन है ऊर्ध्वमूलम यस्य जिसका मूल है परब्रह्म वो ऊर्ध्वमूल हो गया कौन संसार संसार वृक्ष है ऐसा संसारात्मक वृक्ष है वो तो संसार क्या है अव्यक्तादि स्थावरांत अव्यक्त से लेकर के वृक्ष तक घास आदि सब स्थावरांत सारे पदार्थ पर्वत भी हो स्थावर है स्थिर रहने वाला अव्यक्त है माया को अव्यक्त कहते हैं और माया विशिष्ट को भी अव्यक्त शब्द कह देते अव्याकृत अव्यक्त अज्ञात चैतन्य अज्ञान विशिष्ट हो जाएगा तो अव्यक्त में आ गया सारे पदार्थ अज्ञान विशिष्ट जितने सब अध्यस्त है आदि स्थावरांत संसार वृक्ष ये संसारात्मक वृक्ष है संसार ही वृक्ष है ऊर्ध्व मूलम यस्य जिस संसार का मूल ऊर्ध्व पर ब्रह्म है कारण है पर ब्रह्म वो संसार विषय यद्यपि माया अनादि है वो कार्य नहीं है तो भी उस माया कोई है पदार्थ सारे कार्य को देख करके उसके कारण शक्ति का अनुमान करते हैं और शक्ति भी शक्तिमत के बिना शक्ति नहीं है शक्तिमत है परमेश्वर तो अव्यक्त का कारण अव्यक्त है तो अव्यक्त से थावृत को जितने हैं ये सब संसार वृक्ष को ले लिया तो उसका कोई मूल आश्रय है उसको वृक्ष शब्द से क्यों कहा संसार वृक्षश्च वृश्चनाथ वृश्चनाथ तो वृक्ष छेदन टीका में दिया वृक्ष शब्द प्रवृत्ति निमित्त वृक्ष शब्द की प्रवृत्ति हुई संसार को वृक्ष शब्द में प्रवृत्ति निमित्त यहाँ है प्रवृत्ति का निमित्त उभ्रस्तु छेदने धातु से के में उभ्रस्तु छेदने अस्य धातो सप्रत्यांतस्य रूपम वृक्ष स्नु वृक्षि कृत्य रसिभ्य कित ऐसे कित होता है सप्रत्य होता है कित उनसे संप्रसारण हो गया वृश्चय सप्रतिभा कित हो गया उणादि सूत्र है स्नु रसिकृत्य रसिभ्य कित कित होने से संप्रसारण हो गया ब्र के र को री हो गया संप्रसारण से पूर्व वृष आगे स वृष सकार को स्को संयुवाद्य अंत से लोप हो जाएगा वृच अगर स चकार को चो कुछ क आगे देश प्रत्यय वृक्ष वृक्ष बन जाता है छेदन किया जाता है इसलिए वृक्ष जैसे पेड़ का छेदन होता है अभी बड़े पेड़ कभी ना कभी कट जाएगा इसी प्रकार संसार वृक्ष है इसका छेदन होता है छेदन करना चाहिए वृक्ष छेदन नहीं करते सुकर गिर जाता है संसार इस प्रकार आप छेदन नहीं करो तो प्रलय काल में सब नष्ट हो जाता है फिर दूसरा बन जाता है वृक्ष एक मर गया तो उसके नीचे कितने फिर वृक्ष बड़े वृक्ष है तो सब उठ नहीं पाते वो मर गया तो फिर तैयार हो जाते हैं संसार वृक्ष है ये संसार वृक्ष आत्मक है वृक्ष रचनाद तो खाली काट देने से कटा जाते इतने और और भी सादृश्य है छेद्य छेद्य तो युक्ति माह इसको छेदन करना चाहिए छेद्य है छेदन योग्य ये संसार वृक्षों को काटना चाहिए ये युक्ति कहते हैं अनर्थ बहुत है उसका उच्छेद करना ही है करना ही चाहिए नहीं तो संसार में इसे भटकते रहेंगे तो छेद्यत तो युक्ति कहते जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक अनर्थात्मक इसलिए छेदन करना चाहिए अनर्थ क्या इसमें जन्म जरा मरण शोक आदि जन्म जरा मरण शोक नाम एक दो तीन चार ले लिया जन्म भी दुख है जरा अवस्था अवस्था में दुख है चलना खड़ा होना बैठना उठना भी कष्ट नहीं खाने पीने भी और कठिन नहीं दिखता ही नहीं दिखना सुनना भी मुश्किल है सब प्रकार है कष्ट <laughs> श्वास लेना भी कठिन नहीं थोड़े चला तो श्वास नहीं चलता है जोर से चले तो बात नहीं कर पाएंगे सीढ़ी में चढ़ गए तो थोड़ी देर बैठो सास पहाड़ चढ़ने के लिए चढ़ नहीं पाएंगे जरा अवस्था में और मरण का समय तो इतने कष्ट है मरण नाम से सब डरते हैं मृत्यु कहते ही डर लगता है हे जब मरण अवश्य होने वाला है तो मरण के समय बहुत कष्ट होता है सहस्र वृश्चिक दंशन एक बिच्छू जिसको काटा है वो पता है कितने कष्ट होता है कुछ भी तंत्र मंत्र औषध करो 24 घंटा तो एकदम कष्ट भोगना पड़ता है और एक हजार बिच्छू काटेंगे एक बिच्छू काटने पर इतने हो जाता है हाथ पत्थर जैसा हो जाएगा उठा नहीं पाएंगे और एक हजार काटते तो, तो मरना तो मृत्यु से भी और कठिन है <laughs> मृत्यु के लिए दृष्टांत देते हैं तो पता नहीं मृत्यु सम के समय इतने कष्ट होता है सहस्र विश्व दंशन का तो अनुमान कर सकते हैं एक विश्व जिसका जिसको दंशन का अनुभव है वो कल्पना करेगा सहस्र सोचेगा तो बड़ा सोचते सोचते ही प्राण चल जाएगा एक हजार विश्व काटेंगे तो एक में ऐसा हुआ चार पांच हो गया तो पूरा शरीर काम हो जाएगा दस हो गया तो बात नहीं कर सकता है और होगा फिर एक हजार बड़े सहस्र मरण समय बड़ा कष्ट होता है अत्यंत स्वस्थ व्यक्ति भी चाटुपीटी करता हाथ पर हिलाता है और शोक दुख तो प्रतिक्षण है ही बिना कारण में दुख है थोड़े से ही कुछ दुख है पर उत्कर्ष सहन नहीं कर पाते दुख है अपनी गलती को नहीं मानेंगे दूसरा कहता है तो दुख है कहीं ना कहीं कुछ देख तो दुख है कोई अपनी गलती है दूसरे को पता है नहीं पता नहीं कि दूसरे देखता है तो सोचा हाँ इसलिए हमारे ऊपर देख रहा है <laughs> क्योंकि आज मैं स्नान नहीं किया अब तक <laughs> स्वयं स्नान नहीं किया अपने को पता दूसरे को पता नहीं दूसरे देख रहा है तो सोच रहा हाँ इसलिए मेरे ऊपर देख रहा है क्योंकि मैं स्नान नहीं किया <laughs> कभी-कभी जाकर डांटता है अरे क्या देखता है तुम तो स्नान नहीं कर दो <laughs> ऐसे देखा है ऐसे बिना कारण दूसरे को देखेगा मेरे मेरे ओर क्यों देखता है क्यों संशय करके दुखी होने के लिए अपने कर्म से दुख मिलता है आरोप करते दूसरे ऊपर ये दूसरे अपने क्यों गलती करना अपने ठीक रास्ता पर चलना चाहिए दूसरे क्यों गलत दुख देगा दूसरे दुख नहीं देता है स्वयं गलती करे और हमारे देखता है क्यों दिखता है वो देखता है क्या वो तो उसको पता नहीं आपने स्नान किया नहीं किया वो देखा क्या इसे देखा आप भी देखते हो वो भी देखा आपने उसको देखा आपकी गलती नहीं वो आपको देखी था उसकी क्या गलती है <laughs> तुमने स्नान नहीं किया उसके ऊपर डांटते नाराज तुमने उसको देखा वो भी आपको देखा और तुमने स्नान नहीं किया उसकी क्या गलती है उसके ऊपर नाराज मेरे और क्यों देखा <laughs> तुमने क्या देखा बोलो क्यों देखा तो ये दुख इस संसार में प्रतिक्षण बिना कारण नहीं समझ पाते दुख का कारण दूसरे ऊपर आरोप करता है प्रतिक्षण दुख भोगना पड़ता है संसार में समझदार व्यक्ति चले ये संसार दुखात्मक है ही इसकी निवृत्ति कैसे होगी ये विचार करें किसके कारण दुख हुआ क्यों दुख हुआ उसको विचार कर दूसरे ऊपर आरोप करने से दूसरे की निंदा करने से दुख निवृत्ति नहीं होती है दुख का मूल कारण समझे ये सारा संसार अनर्थात्मक है अनर्थ आत्मायस्य स्वरूप है अनर्थ अनर्थ जिसको बड़ा प्रेम से ग्रहण करना चाहते इकट्ठ करना चाहते हैं संसार में भटकना चाहते हैं वो अनर्थ है भगवान भाष्यकार में देखा अर्थम अनर्थ भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेश सत्यम जो अर्थ है अर्थ को अनर्थ समझो अर्थ को अनर्थ समझो अर्थ से थोड़ा सा भी सुख नहीं होता है भगवान ने कहा भाष्यकार भगवान ने पाद ने अर्थ को अनर्थ संसार अनर्थ रूप है और उसी से ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं संसार तो दुख रूप ही है वहां कहां सुख मिलेगा स्वरूप सुख को छोड़ करके विचार नहीं करके वहां ढूंढते हैं सुख मिलेगा ये संसार इसलिए संसार से सुख की इच्छा नहीं करो संसार को काटो छेदन करे संसार वृक्ष है प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव है वृक्ष में कभी पता है कभी पत्ते गिर गए कभी फूल आ गए कभी फल आ गए कभी सुखाए यह विभिन्न प्रकार है कोई शाखा गिर गया शाखा टूट निकल गई नए नए कोमल पत्ते आते थोड़े दिन में देखा पता बिला पत्र कभी तो बड़े सुंदर मिलते थोड़े दिन के बाद देखो बड़े-बड़े पटे हो गया तो अच्छा पता नहीं मिलेगा पटे पटे सब टूटे-फटे फल भी लगे कभी पका है कि थोड़े दिन में देखा फिर कच्चे हो लगे प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावी संसार वृक्ष है संसार इसी प्रकार देखते देखते कभी-कभी दिखता नहीं है किंतु परिवर्तन होता रहता है कोई बर्तन कमंडल धोते हैं तो मांजते हैं तो फिर वो बर्तन धोते हैं तो पतला होकर के छेद हो जाता है नष्ट होता है एक दिन में नष्ट नहीं होता है रोज घिसाई करते हैं घिरते समय थोड़ा काम होता ही है थोड़े थोड़े काम होते होते खत्म हो जाता है मोटे बड़े बर्तन भी माज कर साफ करते हैं माजना भी चाहिए माज कर साफ करते करते थोड़े थोड़े काम होता ही रहता है जो मकान दिखता है 100 साल के बाद पुराना होकर के नष्ट हो जाता है एक 100 साल होने के बाद फिर एक साथ नष्ट नहीं पहले से भी धीरे-धीरे धीरे-धीरे क्षीण होता है पट नया कपड़ा लाया थोड़ी देर के बाद पट जाता है पहले फाड़ने के लिए तकलीफ है एक चाकू लाओ हाथ से नहीं फाड़ सकते हैं और थोड़ी देर पहने के बाद ऐसे चलते चलते फट जाता है क्षीण होकर के ये संसार इसी प्रकार जायते अस्ति वर्तते छे विकार में अपक्षयते विपरिणमते नष्ट होता है प्रतिक्षण प्रतिक्षणम अन्यथा अन्यथा स्वभाव से परिवर्तन होता रहता है माया मरीचुदक गंधर्व नगर आदि वत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् माया मरीज माया जादूगर दिखाता है एक समय कुछ दिखाता है दूसरे समय कुछ नहीं है और मरीच उदक मरु में मरीची एक मरीचिका है जल सूर्य किरण से सूर्य किरण से दिखता है उसमें जल भ्रम होता है गंधर्व नगर कभी आकाश में बादल है कभी दूर में सूर्यास्त उदय के समय दूर में सूर्य नहीं दिखते हैं सूर्य किरण दिखता है देखा हो कि शाम को सूर्य के दर्शन नहीं हो गए लगता है सूर्य अस्त हो गए किंतु सूर्य के किरण पर्वत के ऊपर दिखते कभी-कभी पर्वत ने बादल में सूर्य किरण कभी सोना जैसे काला लाल बहुल कलर रंग दिखते हैं बादल भी कभी ऐसे होते हैं सूर्य किरण से चमकता लगता है बड़े नगर पर है बैठ गया देखते ही बड़े नगर जिस ऊपर दिखता है चमकीला सुसनी का मकान वो कोई कोई कहते ही गंधर्व नगर कभी कभी से गंधर्व नगर जैसे दिखी जाता है कुछ देखते देखते सूर्य थोड़ा इधर उधर हो गया तो कुछ नहीं दिखा चक दिखता है वो सुंदर फिर सूर्य थोड़ा अस्त हो गए तो, तो नहीं दिखता है गंधर्व नगर इस प्रकार केवल दिखता है नगर कुछ है ही नहीं कभी कभी भ्रांति हो जाती ऊपर तो माया मरिचुद गंधर्व नगर आदि के समान है ये संसार दृष्ट नष्ट स्वरूपत्व आते दृष्ट नष्ट देखते देखते नष्ट होता है इसलिए ये संसार इसी प्रकार है स्वप्नमाय यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदम दृष्टम वेदांतेश विचक्षणे जैसे स्वप्न और माया गंधर्व नगर है इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड को वेदांतों में देखा गया विचक्षणों ने देखा उसके समान है है ही नहीं दिखता है दिखते दिखते नष्ट होता है अवसान से वृक्षवत अभावात्मक अंत में अभाव हो जाता है जितने बड़ा वृक्ष है अंत में समाप्त हो जाएगा अवसान नीचे अंत में वृक्ष के समान अभावात्म अभाव को प्राप्त करता है और कोई कोई वृक्ष है कदली स्तंभवत निस्सारो कदली वृक्ष है मोटा कदली तो काट कर उठा कर लेते तो लेंगे तो कितने वजन देखो और उसमें से छिलका एक एक निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ अंदर में लकड़ी मिलेगी कुछ नहीं कुछ सहारे ही नहीं जब फल आ जाता है अंदर एक कितना निकलता है फल आने के बाद फल आता है तो वो भी बहुत मुलायम है टूट जाता है तो अब फल आने के पहले वो भी नहीं निकलेगा छिलका निकाल दिया समाप्त कुछ नहीं रहेगा और कदली वृक्ष है फल आने के बाद उतने जितने पानी डालो सार दो मर जाएगा फल आते हुए मरेंगे तुरंत नहीं फल आने के बाद उसके समाप्त हो गया मरेगा ही बसेगा नहीं इसी प्रकार कदाली संभ के समान निस्सार सार कुछ ही नहीं सब अध्यस्त है अधिष्ठानी ब्रह्म है और उसको छोड़ करके संसार निस्सार सार ही नहीं अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद विकल्प का स्थल है कल्पना करते हैं शत पाखंड बुद्धि विकल्प आस्पद विषय अनेक शत पाखंड बहुत प्रकार है कहते कोई ये क्या है जैसे वहाँ कल्पना करते वृक्ष है वहाँ भी करते है वृक्ष है या कोई चोर है अंधकार में दिखता नहीं स्थान व पुरुष वृक्ष में भ्रम होता है कभी कभी इसे दूर से देखते तो वृक्ष है या कोई आ रहा है चल रहा है जा रहा है कभी ऐसे कैसे भ्रम हो जाता है हाथी खड़ा है लगता है कोई बड़े वृक्ष है वो हाथी चलने लगा था अरे पेड़ क्या चलता देखा था हाथी है ऐसे होता है कभी अंधकार में भ्रम होता है तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार कल्पना होती है इसी प्रकार यहाँ भी कोई कहता संसार सद रूपे कोई असद रूपे कोई नास्तिक कोई अस्थि कोई स्थिर रहने वाला कोई कहता प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला कोई कहता नित्य विभिन्न प्रकार कल्पना है विकल्पास्पद तत्व विजिज्ञास भी अनिर्धारित इदं तत्व अनिर्धारितम इदम तत्वम यस्य तत्व विजिज्ञास जो जानना चाहते तत्व क्या है तत्व विजिज्ञास भी अनिर्धारित इदं तत्व इदम तत्वम तत्व क्या है क्या पदार्थ है है कुछ नहीं क्या निर्णय करेंगे कोई पदार्थ है तो निर्णय होगा संसार को निर्णय करेंगे ये वैज्ञानिक लोग से पूछो माप चुप कर बताओ आकाश कितने लंबा चौड़ा बड़े-बड़े वैज्ञानिक लोग बताएं आकाश का लंबा कितने चौड़ा कितने ऊंचाई कितने बता देंगे अंत में अनंत कह देंगे <laughs> वही वेदांत भाषा को आना पड़ेगा तो इसमें अन्य कोई शब्द कह दो किंतु वही भाषा में आना पड़ेगा अनंत अंत नहीं अनंत क्या है अंत नहीं अंत नहीं मतलब क्या है जितने लंबा चौड़ा देखो बोल नहीं पाए बोलो माप माप नहीं कर सकते बोल नहीं पाएंगे अब माप हो नहीं सकता अनंत है मैं तो अनंत कहने समाप्त हो गया या माया अनिर्वचन कहने पर कोई बोलते जब बता नहीं पाएंगे बोले माया कह देते तो माया नहीं तो तुम ठीक ठीक बताओ किसके अनिर्वचन श्रीहर्ष मिश्र ने खंडन किया लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि कहते कोई प्रमाण कोई लक्षण नहीं बता सकते प्रश्न करते पूछते जाते पूछते जाते फिर चुप होते हैं जो बोलते हैं उन थोड़ी देर में फिर चुप हो जाते हैं बड़े-बड़े वैज्ञानिक लोग भी चुप हो जाते हैं कहते क्या आप कहेंगे विज्ञान कितने ऊपर चला गया करके एकदम क्या वेदांत आजकल क्या कहेंगे क्या घटपट कर दो घटा नित्य नित्य बड़े ऐसे से कहते हैं हाँ, तो उनसे पूछ लिया बताओ आकाश कितने बड़े आकाश और तुम वैज्ञानिक लोग को सब मिल करके आकाश का कितने प्रतिशत आपको पता चल गया बताओ आकाश जितने बड़ा है कितने अंश तुमको मालूम हो गया अभी कहे चंद्र चले गए मंगल चले गए ठीक है चंद्र मंगल भू चले गए सब ग्रह नवग्रह को मिलाओ सारे जितने तुमको मालूम है उससे और कितने गुना आकाश बाकी है बोलो बड़े-बड़े वैज्ञानिक गणित लोग चुप हो जाएंगे नहीं बता पाएंगे बोल पाएंगे कितने गुना बाकी है कोई जानते हैं तो गणित वाला बताओ तो जितने तो वैज्ञानिक लोग को पता चल गया और कितने गुणा बाकी है सौ गुणा हजार गुणा करोड़ गुणा कोई बताओ नहीं बता सकते हैं वो गणित तो जानने वाले ही जानते नहीं बता सकते बहुत गणित तो जानने वाले भी कभी गलत थे एक बार पूछा था इंजीनियरिंग कॉलेज में गीता ज्ञान यज्ञ हो रहा था भुवनेश्वर में उनका अलग से पूछा सब बुलाए ऐसे ही कहा मैं पूछा कितने प्रतिशत वैज्ञानिक को पता चल गया कितने वो का एक प्रतिशत कह दिया मैं क्या आप गणितज्ञ नहीं गणित के बड़े हुए यही ये गणित आपका पूरा ज्ञान नहीं है <laughs> गणित ज्ञान जिसको है एक प्रतिशत नहीं कर सकता एक प्रतिशत अंदर क्या सौ गुना चल जाएंगे तो आकाश खत्म हो जाएगा क्या फिर चुप हो गए <laughs> हाथ जोड़ देना ही स्वामी जी <laughs> जैसे एक प्रतिशत मतलब सौ भाग से एक भाग जान लिया चलो एक सौ गुना आगे चलो आगे आकाश खत्म हो जाएगा अभी बताओ कितने प्रतिशत फिर चुप हो गई <laughs> मैंने एक किया <laughs> कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए उसका ये धन तत्व निर्धार तत्व जिज्ञासा नहीं कर पाएंगे संसार का हाँ छेदन कर सकते हैं अरे अविद्या माया कहाँ से आई कहाँ से बुझ पूछते कैसे आए कहाँ से आई कहाँ से आई आई कहाँ से उसका उच्छेद कैसे होगा उच्छेद करो वो क्या है अविद्या तत्व माया तत्व क्या चीज़ है क्या है जो है वो तो मिट्टी से बना गया ताम्र पितर है सोना है क्या विचार करना जो है ही नहीं उसको क्या विचार करना स्वप्न में आकाश दिखता ना नहीं सपने में जो पदार्थ दिखा उसको जगने के बाद विचार करो कितने बड़ा मैंने एक देखा था मकान देखा था उसका कितने वजन होगा सपने में मकान देखा था सपने में कोई पल देखा था जगने के बाद विचार करो उसमें कितना वजन होगा वजन क्या होगा कल्पित पदार्थ में जल देखा मरु मरीचिका में और जल में भी कितने ठंडा गर्मी है कितने पानी है क्या देखना है ये इस प्रकार ये इधर तत्व जिज्ञासु वीर अनिर्धारित इदं तत्व इदं तत्व निर्धारण नहीं होता है हाँ अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो हो गया सब अधिष्ठान ज्ञान नहीं तो संसार का तत्व क्या है पता नहीं चलेगा तो वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सार तो यहाँ तक तो हो गया संसार का कुछ है ही नहीं तो फिर संसार कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा सब झूठा है कुछ नहीं है ये सारा अध्यस्त पदार्थ मिथ्या है तो कोई एक अधिष्ठान सत्य होना चाहिए मरीची का मिथ्या है तो उसका अधिष्ठान मरुभूमि है सर्प सामने नहीं तो रज्जु है यदि गंधर्व नगर आदि कुछ है ही नहीं तो कहाँ आकाश है आकाश में देखना पड़ेगा कोई अधिष्ठान सत्य है जिसमें भ्रांति होती है तो सारे संसार की भ्रांति होती तो उसका कोई सार होना चाहिए तो सार क्या है वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सार वेदांत से निर्धारित होता निश्चय होता है तर्क के द्वारा नहीं यंत्र से नहीं निर्णय कर सकते हैं यंत्रपात लेकर देखेंगे कहाँ आत्मा है मरते समय देखते हैं आत्मा किस रास्ता से जाएगा वेदांत निर्धारित परब्रह्म है मूल वही सार है परब्रह्म मूल मूल एवं सारो यस्य संसार का मूल सार परब्रह्म ही है जो वेदांत प्रमाण से निश्चित होता है और वृक्ष तो इतने मूल तो सार हो गया वृक्ष होने के लिए पत्ते भी चाहिए अंकुर फूल फल भी चाहिए इस संसार में अभी दिखाएंगे कैसे वृक्ष है पत्ता कोमल पत्ते निकलेंगे पत्ते होंगे फूल होंगे फल होंगे चिड़िया बैठ करके खाएंगे तभी तो वृक्ष का निर्णय होगा ॐ सहनावतु सहनो सह वीर्यं करवा